सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात उसी प्रमेला सते के कहते हैं हम बात असुरों के रहने पर भी वह स्वर्गीय समझे जाते थे काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी नैनानी के हिरणे के से चंचल उज्ज्वल रतनारे थे खंचन मद गंजन मनरंजन विनायंजन भी मतवारे थे सत और पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारे जाते थे तो अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी आज सवेरे वह सते कर उद्यान बिहार पति सेवा को गूथने बैठे सुंदर हार हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान अधरों से झर रहा था सुधा सरिस यह गान मेरे जीवन के माला के जीवन धन तार तुम्ही तो हो इस हार में जो उपहार को है कर रहे विचार तुम्ही तो हो जबे पिरोती बैठ कर मैं धागे में फूल तभी विरह के और भी चुभते तन में सूल देखना डोर न यह टूटे हाथ से छोर न यह छूटे माला और माला वाली का सारा श्रृंगार तुम्ही तो हो मेरे जीवन की माला के जीवन धन तार तुम्ही तो हो इस हार में जो उपहार को है कर रहे विचार तुम्ही तो हो मेरे जीवन के माला के जीवन धन तार तुम्ही तो हो इतने में ही वायु का झोंका आया एक इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अरे पड़क उठा दाया नैन खुले शीश के बाल घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह माल साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बेंदी जभी गिरी सर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी मुक्का सा छाती पर बैठा आंखें पथरा उठी दोनों उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों बोली है यह क्या हुआ अरे नाथ के नाथ सर का साथी क्यों बना तजदासी का साथ दिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था बोले भी भारी से भारी सेवा का भार उठाया था जो तुझे छोड़कर बड़े नहीं जग या जगदीश्वर के आगे चूड़ियाँ पहनने तक भी जो गए नहीं नर के आगे हे पति के हाथ बता इतना उन हाथों को क्यों छोड़ा है पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है तू छोड़ रहा इन हाथों को यह हाथ न तुझको छोड़ेंगे संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है यह दुनिया भी पति ही से है वह दुनिया भी पति ही से है यह कहकर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ चाहा उसको पास में लू आदर के साथ पर कुछ ठिठकी उस क्षण सोची ऐसी बात माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचाया हो या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो इसलिए शीघ्रता करने में सतपन बड़ बट्टा आएगा तप जाएगा यश जाएगा प्रिय प्रतिव्रत भी जाएगा हृदय सिंधु में जब उठे यह गंभीर हिलोर पति के कर से उसी क्षण बोली वह कर जोर यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी का चाल तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल आत्मा उस घन नाद की पड़ी भुजा में बोल थलिया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बढ़ी लिखने उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने शंका के जगह नहीं है साध्वी के सत के लीला है यह सूक्ष्म शक्ति के बातें हैं यह गुप्त जगत की लीला है लिखा हाथ ने प्रियतमे पर्वत छूटा साथ हाथ न है यह और का है मेरा ही हाथ शेषावतार है लखनलाल उनके द्वारा संहार हुआ इस बैर भक्त से मुक्ति हुई इस रण कारण उद्धार हुआ धड़ तो लंका के द्वारे है तिर रक्षित है रामादल में आत्माय विनाशे विचर रहा सुख से अनंत के अंचल में पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहाता है शारीरिक नाता नश्वर है अविनाश अविनाशी यही नाता है इस नाते से कहता हूँ यदि तुमने यह तत्व पा लिया है तो निश्चय समझो सुलोचने पत्नी का स्वत्व पा लिया है सतवंती उसी सत्य की तुम लंका में ज्योति जगा देना कहते हैं किसको पतिव्रता यह दुनिया को दिखला देना आत्मा पहुँचे सूक्ष्म में लिख कर इतनी बात सुलोचना के शीर्ष पर हुआ भद्र सापात गिरने दिया न भूमि पे रोका हाथों हाथ हृदय सर के हाथ को तुरंत नवाया माथ बोली पहले की भांतिनाथ कुछ भेद ने अब के बतलाया है कह गए यज्ञ की बात यहाँ उस जगह युद्ध कर दिखलाया है यह कैसा यज्ञ किया स्वामी आहुत दे डाली प्राणों की रह गई कहानी अब जग में पतिदेव तुम्हारे बाणों की भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न यह दिन श्यापे का सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रंडा पे का रह गया खेद इतना मुझको मैं साथ नहीं रह रणस्थल में तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समरानल में या तुम मेरे सर पर होते मैं होते चरण तुम्हारे पर हम दोनों साथ साथ मर कर जाते उस शांत किनारे घर आने दो आ रही है यदि संकट की रात मैं तो उसके किरण हूँ जिसके साथ प्रभात इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी तुम पत्नी व्रत में पूरे थे मैं प्रतिव्रता कहलाती थी अब उस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श दिखाने को आएगी पति के अर्धांगिनी पति पत्नी धर्म निभाने को हाँ हाँ पति पत्नी का नाता जन्मांतर एक कनाता है पृथ्वी से लेकर गगन तलक यह नाता माना जाता है इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुँचाऊँगी तुम युद्ध मार्ग से चले गए मैं सती मार्ग से आऊँगी अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है अब जीवन रूपे मुद्रा के नौछावर को दिन आया है उठ गई सेव्य प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं तालाब सूख जब जाता है रहता मछली का नाम नहीं सिंदूर भरेगी केशों में अब वही धधकते हुए चिताम विधवा के सुखद सेज होगी प्रियतम की जलती हुई चिता होनी थी सा होली नाथ अब खेलूंगी होली होली थी सा होली नाथ अब खेलूंगी होली अंग अंग में बिरह रंगने केसर सी है ए धोली होली थी साहोली नाथ अब खेलूंगी होली हड्डे हड्डे अबीर है नैनो में है रोली भरी है सत की झोली होनी थी सोहोली होनी थी साहोली नाथ अब खेलूंगी होली धुआंधार जब हो जाएगी सब चुनरी और चोली जलती हुई चिता पर होगी तब पति साथ ठठोली जाएगी सुरपुर डोली होनी थे सोहोली होनी थे सोहोले नाथ अब खेलूंगी होली अंग अंग में बिरह रंग केसर से है चोली नाथ जब खेलूंगी होली नाथ जब खेलूंगी होली चढ़ा सते पर जिस समय सत का ऐसा रंग दस कंधर आया तभी मंदोदर के संग बोला बेटी क्यों रोती हो क्यों करुणा नदी बहाई है तुम तो उसके प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ उस एक शीष के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ इन वचनों से और भी भड़के मन की ज्वाल दाज शर्म सब छोड़ कर बोली वह तत्काल श्री महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है लाखों शेषों का क्या होगा पति का शीर्ष चाहती है वे गए वीर गति पाकर है मैं नारी उचित गति पाऊंगी पति का सब साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी